Thank you. शक्तिनोपयाहुता यवे च भद्रम् हे भगवान रक्षक ने भद्रम ने पापी इन सब दुष्टात्मा को इस संसार में फंस गया नावे धर्म से विविध चलने वाली पुरुष कभी मत हो तथा नौपया उदा अधर्मी के समीप रहने वाले उसके सहाय को भी सुख नहीं हो ऐसी प्रार्थना आपसे हमारी है कि दुष्ट को सुख कभी न होना चाहिए नहीं तो कोई जन धर्म में रुचि नहीं करेगा किंतु इस संसार में धर्मात्माओं को ही सुख सदा दीजिए तथा हमारी युक्त इंद्रिया दुख देने वाली बहु आदि वीरपुत्र और वीर नृत्य सहस्यति विद्या विज्ञान और अन्य ऐसे हमारे देश के राजा और धनाट्य जन तथा इसके लिए अनेहता निष्पाप निरुपद्रव सुदृढ़ हो व उदयो व उदय व मार्ग मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना की जा रही न की नहीं किया इस संसार में जो बुरे लोग हैं अधर्मी हैं भक्ति उनको सुख नहीं दीजिए जब पापियों को सुख मिलता रहता है तो दूसरे लोगों की पाप करने की प्रवृत्ति होती है और इसको आप प्रत्यक्ष देख सकते इस समय जो समाज की भारत की स्थिति है प्रमुख रूपेण जो बुरे लोग हैं आचरणहीन लोग हैं देशद्रोही हैं प्राय उनके हाथ में संपत्ति धन और माला माल एक व्यक्ति दूध बेचने वाले हैं में हम पूछते हैं आप कुछ उसमें गड़बड़ तो नहीं करते उसने कहा गऊ का दूध बेचने की व्यापार करने की अनुमति है और दूसरे लोग भैंस का बेचते गऊ का नाम देते और मैंने क्या किया कि कुछ भैंस का मिला लेता हूं मैं गऊ वाले में और गऊ का मान करके ही भेजता हूं नहीं तो सरकार से नहीं देती आप ये देखेंगे कि जितने ये विभाग हैं हमारे अलग अलग विभागों को गिनते चले जाइए पढ़े लिखे लोग इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आदि सभी वर्गों को ले लीजिए आप ये कम धार्मिक होते हैं इनमें से कुछ ही लोग अपना कुछ धर्म की ओर झुकते हैं और प्राय या अधर्म की ओर झुके हुए हैं और डॉक्टर इंजीनियर आदि जो मालामाल हुए दिखते हैं बड़े से बड़े करोड़पति बन गए परिणाम यह निकला कि उनको देख देख करके उनके दुष्ट आचरण को देख करके दुष्ट होते हुए माला माल देख करके अन्य साधारण जनों की प्रवृत्तियां वैसा ही बनने की देखी जाती है तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई हे ईश्वर अधर्मियों को सुख नहीं देना पापियों को सुख नहीं देना शंका उभर सकती है सर्वे भवंतु सुखी है सर्वे संतु सर्वे भद्राणी पश्यंतु इसमें प्रार्थना क्या की गई सुखी रहे तो सभी में अधर्मी आए या नहीं आए पर याद रखना भाषा के ज्ञान में अधर्मी नहीं आ पाएंगे एक पक्ष ऐसा भी है वो क्या सर्वे का अर्थ है जितने धर्मात्मा नहीं आई बात समझ आ गई नहीं आ जाएगी थोड़े दिनों नहीं समझे बात सर्वान ब्राह्मणा ने आन है हो जाए सारे ब्राह्मणों को बुला लो उनको भोजन कराओ गांव में तो हजार ब्राह्मण गांव ब्राह्मणों का है और जो पंडित आए हुए हैं वो पंद्रह हैं और क्या कहने लगा सभी ब्राह्मणों को लाके भोजन खिला दो क्या अर्थ हुआ पंद्रह पंद्रह ब्राह्मण पंडित जी बात तो सर्वे का सारा काम तो नहीं हुआ नहीं आई बात तो सर्वे भवंतु सुखी सुखी क्या मतलब हुआ जो धार्मिक जीवन सारे के सारे अब इसके दूसरी व्याख्या करेगा सर्वे भवंतु सुखी ने धर्मात्मा भी और अधर्मात्मा भी सुखी हो ये तो अध्यात्म वाली बात मानी और धर्मात्मा तो पारितोषिक देने से सुखी और दुष्ट लोगों को दंड दो कारागार में भेजो ये अधर्म छोड़ देंगे सुखी हो जाएंगे मैं यही बात सुन उनको दंड दो और सुखी बनाओ सर्वे भवन दो सुखी तो ये आशंका उभरती है वहां पर यही भावना यहां पर परमात्मा इससे प्रार्थना जो की जा रही वो अधर्मियों को दुखी देखने की इच्छा नहीं है अधर्मियों को सुखी देखने की इच्छा है प्रार्थना वाले की वो प्रार्थना करने वाला ये चाहता है अधर्मी दुखी हे ईश्वर है इनको सुख मत देते रहना ये अधर्म को नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को देखा कितने उद्दंड होते कई बच्चे आजकल बिगाड़ बगाड़ के छोड़ देते बच्चों को तो माता जी क्या करती है माता जी ये करती है जो बच्चा ठीक ठाक चलता है उसको तो बहुत कुछ सुविधाएं देती है और जो त्रुटियां करता उसको एक समझदार भाई उन्हीं में से मां को कहता माता जी सर्वे भवन तो सुखी ने है जी है जी तो तो क्या होगा कि वो जो उदंडता करता उसको दंड दिया मां ने तो वो सुखी हो गया इसलिए अभिप्राय जो है प्रार्थना का वो लेना चाहिए और ध्यान देना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है वो ये चाहता है ये अधर्मी जो लोग हैं ये पाप करना चाहिए अच्छा जब बुरे कर्म करते हैं जीवात्माएं तो परमात्मा उनको स्वर क्यों बनाता है उनके कल्याण के लिए बनाता है या और कोई बात नहीं हाँ कल्याण के लिए घर के लिए तो यही बात है कि उन लोगों को सुख मिलता रहेगा तो वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे समाज में आप देख सकते हैं जहां हमने ईश्वर से प्रार्थना की है जी वहां राजा से भी प्रार्थना कर सकते हैं हम जो न्यायकारी राजा है उसको भी हम यही कहेंगे कि हे राजन ये दुष्ट लोग सुविधाओं को प्राप्त नहीं करें दंड तोड़ेंगे क्या होगा ये सारे बुराई छोड़ करके देश के हित में लग जाएंगे इसलिए प्रार्थना की है न कि अधर्मियों को दुख देने के लिए उनको दुख से छुड़ाने के लिए प्रार्थना की और फिर कहा जो धर्म महात्माओं के पास रहता है उसको भी सुख मत देना नियम का जो संग करता है उसको भी सुख मत देना यदि उसको सुख मिलता रहेगा तो अधर्मियों के पास बैठेगा दूसरे भाग में एक बात कही गई उन्होंने कहा हमारी इंद्रियां सशक्त हो क्षम हो और हे नवे अच्छी गौएं दूध देने वाली वो संपन्न हो दुखी हो इसका अर्थ ये देना हम ऐसे लोगों को की तनमन धन से रक्षा करें उसका ये अभिप्राय है प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ जुड़ा हुआ रहता है अपना पहले पुरुषार्थ होगा तब वो व्यक्ति प्रार्थना करे गऊ की रक्षा करेंगे हम खूब खिलाएंगे पिलाएंगे फिर हम परमात्मा जी प्रार्थना करें हमारा काम है हल चलाना झाड़ बिगाड़ काट देना है दौड़िया दे देना हुआ इतने के पीछे हम कहेंगे हे ईश्वर है वर्षा करो नहीं ईश्वर के नियम से वर्षा हुई हमने अन्न को दिया तो उसका संबंध दुर्गा प्रसाद के साथ जो डोली नहीं देता हल नहीं चलाता नहीं पाता नहीं खाद डालता वर्षा होने पर पानी सारा निकल जाएगा आलसी सीधो घर में पड़े रहते हमने देखा जब अच्छी वर्षा होती है आलसी सीधो घर से नहीं निकलते पानी और खाद सारा का सारा बह जाता है और भूमि में दानी डालता वो सूख जाते ने खाद रहता और ने पानी देता और प्रार्थना करने वाला प्रार्थना उसी समय तो करेगा पहले डोली देगा हल चलाएगा खाद डालेगा और क्या तो पानी रोकेगा वही तो प्रार्थना करेगा इसी के ऊपर तो ईश्वर का नियम लागू होगा नहीं तो वर्षा किसी काम की नहीं जब अच्छी वर्षा होती है ना आलसी खेती करने वाले घर से भी निकलते सारा पानी और खाद सारा आप में है कोई खेती करने वाला और इतना ही नहीं उसके खेत का पानी निकल करके अगले के खेत में जाता और दुगना होने से अगले के खेत का भी कट जाता फिर तिगना होने से अगले का भी कट जाता और चौगना होने से <laughs> सारे खेतों की सफाई हो जाती है एक सी व्यक्ति के कारण बिल्डियों का चलता तो किसी ने तोड़ा और काट खाया हमको नहीं समझे आप कहते ये कर्मों का फल है कैसे कर्मों का फल है छत्ता जिसने तोड़ा काटा हमको ये कर्मों का फल नहीं कहलाता ये न्याय है या कर्मों का फल है न्याय तो इसमें ये भावनाएं भरी गई कि धर्मात्माओं को हे ईश्वर सुख दो और प्रार्थना करने के पीछे ये मांग हो रही है प्रार्थना का प्रसंग आया है हमारी जी ने एक प्रश्न उठाया कि भाई ये जो प्रार्थना करने करते इससे क्या होता है उन्होंने कहा प्रार्थना करनी चाहिए पुरुषार्थ के पश्चात एक बार और प्रार्थना करनी चाहिए अच्छे कामों के लिए ठीक है आजकल प्रार्थना दूसरे ढंग की भी होती है वो प्रार्थना करते हैं कहते हे भगवान है तो मेरा झूठा मुकदमा फिर मैं यही प्रार्थना करता हूं मुझे जिताइए पुरुषार्थ के पश्चात प्रार्थना करनी एक बात और शुभ कार्यों के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए अशुभ के लिए और ईश्वर के नियमानुसार प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर के नियमों के विरुद्ध शुभ कार्यों के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए इससे क्या समझ में आया नहीं आया ईश्वर के नियम अनुसार प्रार्थना तीन बातें आई आप सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए एक बात और पुरुषार्थ के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए दो बात और शुभ कार्यों के लिए भी उन्हीं के लिए करनी चाहिए जो ईश्वर के नियमान अनुकूल है कार्य शुभ है पर ईश्वर के नियम के अनुकूल नहीं है कितनी प्रार्थना कर रहे हो सुनेगा ही नहीं कल्पना करते एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए हाथ पैर काम नहीं करे गैस हो चूल्हा हो सारी हो बिजली हो सब और कोई बनाने वाला खिलाने वाला है ही नहीं दलिया भी है वो भी है और वो कहता है ईश्वर मुझे दलिया बना के खिला दो कार्य शुभ है क्या खिलाएगा ईश्वर नहीं बोल नहीं खिलाएगा अब जो लोग ईश्वर को नहीं जानते वो तो ऐसी ही प्रार्थना करते बड़ी विचित्र प्रार्थना इसलिए ईश्वर को समझो फिर क्या होगा किसी ने कहा प्रार्थना करने से व्यक्ति जो है अपने मिथ्याभिमान का नाश करता है जब हम मांगते हैं तो मिथ्याभिमान नष्ट होता है किसी ने मांग के देख लो कोई चीज ऐठी व्यक्ति मांगेगा नहीं उनका मिल जाता है नहीं देखा जैसे प्रार्थना करता व्यक्ति का विमान नष्ट हो जाता और देखो प्राचीन काल में कैसी अच्छी बात थी प्रत्येक राजा का लड़का हो दरिद्र का हो प्रत्येक लड़के लड़की वो भिक्षा मांगने जाते थे और भिक्षा मांग के खाते थे सभी घरों से खाते थे पुरुष हो तो भगवान भिक्षाम देवी स्त्री हो तो भगवती भिक्षा भिक्षा देवी ये आवाज लगाते थे सभी के घरों से मांगते थे अभिमान ही नहीं रहता था उनको सब मांगते थे राजा का लड़का भी मांगता था कोई अभिमान नहीं वो नष्ट होता जाता है नम्रता दी जाती अब कई लोग कहते हैं मैं योगाभ्यास करूंगा और वानप्रस्थ बनना चाहता हूं या सन्यासी बनना चाहता हूं ब्रह्मचारी लेके पढ़ूंगा हम कहते हैं आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी कहते भिक्षा नहीं मांग सकता आप में भी हो जी वो तो भिक्षा नहीं मांग सकता हूं और कहते योगाभ्यास करें ऋषियों ने ये कहा है जो महान विद्वान वेता आत्मा परमात्मा को जानने वाले वो भिक्षा मांग के खाते हैं वो सबसे महान होते हैं एक ब्रह्मचारी कहने लगे कि तू पढ़ता है पढ़ाता है भिक्षा मांग के खाते हैं तो बुरी आदत तो नौकरी कर <laughs> अब भले व्यक्ति किसी को बिना नौकरी वाला भी छोड़ोगे तो बस में बैठे एक दिन और चर्चा चल गई दाई बाई व्यक्ति होते हैं कई बार तो चर्चा चलते चलते वो बैठे बैठे व्यक्ति क्या कहता कहेंगे आप तुम्हें तो भाषा बोलता है हाँ जी कमा के तो खाते नहीं लोग खाते पड़े रहते करना धरना कुछ है नहीं <laughs> वो हमको देख के कह रहा <laughs> तो देखिए ऊंची स्थिति प्राप्त करने की स्थिति आती है तो राजा महाराजा भी नतमस्तक होकर मांगते हैं सौभाग्य समझते हैं और ऐठी लोग अभिमानी लोग भगवान के <laughs> भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानते हैं अच्छा आप तुलना करते हैं भगवान की अपनी कभी जब तुलना करते करते प्राय व्यक्ति भगवान को छोटा मानता है और अपने को उसने कहा कैसे बड़ा बड़ाई की अकल ही नहीं थी गुड़ जो होता है ना वो वो पकाते हैं फिर गुड़ बनाते हैं गन्ने में गुड़ लगा देता खाम का चूलदार ये ये करना पड़ता गन्ने में गुड़ नहीं लगाया गन्ने देखे ना है जी और सोने में सुगंध पैदा नहीं कितना बेकार है इन चीजों में सुगंध है और सोने में सुगंध नहीं है इतनी अच्छी चीज है राजा जो है उसको लंबी आई वाला नहीं बनाया जल्दी मर जाता राजा और क्या था हाँ चंद्र में फूल नहीं हमने चंद्र के वृक्ष देखे बहुत वृक्ष देखे फूल नहीं हमने ये कहता है इसी दाता की अकली ठिकाने नहीं जिसने चीज बनाई वो बुद्धिमान का तू समझ नहीं रहा अभी दाता को सोने में सुगंध कर देता रेल में बैठ के चलते तो छुरा लग जाता सारा अपना छीन देता सोने में सुगंध होता और गन्ने पर गुड़ लगा देता था तो कीड़ी मकोड़े सारे खा जाते वहीं को आप खाली पड़े रहे <laughs> तो बड़ी विचित्र बात है तो इसलिए ये हमें जब प्रार्थना करते हैं तो अभिमान नष्ट होता है और प्रार्थना करने वाले के अंदर पुरुषार्थ करने की शक्ति आती है ये भी ध्यान दें जो प्रार्थना करता है देखिए मांगने वाले कितने होते पहले परिश्रम करते जब नहीं होता तो दूसरे से कहते मुझे इतनी सहायता दे दो पुरुषार्थ करने की इच्छा होती है मांगने वाले की आलसियों को छोड़ो तो इतनी बातें हमको जाननी चाहिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए किन बातों की करनी चाहिए किन किन दिनों के आधार पर अब विराम